सार साज कठि भाथा दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम प्रभु धनुष धनुषटङ्कोरा रिपुदल बधिर भय सुनि सोरा सत्य छाडे सरल काल सर्प जनु चले सपक्षा जहाँ तह चले विपुल नाराचा लगे कटन भट बिकट पिसाचा हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल भरा हो गया फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने एक लाख बाण छोड़े वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर हो सत खंडा घुर्मिर्मिल महि परहिं संभार सुभट पुनि पुनरहिं लागत बान जलद जिमि गाजहि बहुतक देख कठिन सर प्रचंड रुण्ड बिनु धावहि धरु धरु मारु मारु धुनि गावी उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं बहुत से वीरों के सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भी भाग जाते हैं बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं क्षण महाप्रभु प्रभु के सायक काटे विकट पिसाच पुण्य रघुबीर संगम हो प्रभु से सब नाराज प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तर्कस में घुस गए कुंभकरण मन देख बेचारे अति छन माझन साचर धारे भायति क्रुद्ध महाबल बेरा कि मृग नायक नाद गभीरा कोपी मही धर ले उपारे डरई जहमर कट भट भारी आवत देख सैल प्रभु भारे शरण काट रज सम कर डारे कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला ुनि धनुतानि कोपि रघुनायक छाडयति कराल बहुसायक तनुमः प्रवि सरजाहि जिमिदामिनि घन माझ समाहि श्रवत सोहतन कारे जनुक जल जलगिर्गे रूपे विकल बिलो की भालु कपिधाए बिहसा जब निकट कपियाए फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो उसे व्याकुल देखकर रिच्छ बानर दौड़े वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा महानाद कर गर जाम कोट कोट गह महिपट कहीं गजराज एव सपथ कर दस शेष और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तब करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा